भक्ति का साधारण से साधारण रूप भी है और गंभीर से गंभीर रूप भी है दो तो तरह से लोग होते हैं एक को चाहिए कि जो कठिन से कठिन काम होगा वो हम करेंगे ऐसी प्रवृत्ति होती है आसान काम को हम क्या करें हम मामूली काम करने वाले नहीं हैं तो सुनते हैं कि ज्ञान बड़ा कठिन है तो गोरे पहले हम ज्ञान ही प्राप्त करेंगे तो वो बड़े उत्तम अधिकारी के लिए है तो क्या हम कम अधिकारी हैं हम छोटे अधिकारी हैं हमको तो उत्तम अधिकार वाली वस्तु चाहिए और कोई कहते हैं कि बाबा हमको कठिन नहीं चाहिए हमको तो बहुत आसान चाहिए सरल चाहिए ये प्रवृत्ति ही मनुष्य की दो तरह की होती है और सृष्टि में दो तरह के मनुष्य रहेंगे एक तो वे रहेंगे जो कठिन से कठिन काम करना पसंद करेंगे और एक वे रहेंगे जो सरल से सरल काम तो कर लेंगे और कठिन से कठिन छोड़ देंगे किसी से कहते हैं भक्ति सरल भी है और भक्ति कठिन भी है रघुपति भगत ही करत कठिनाई है वो स्वामी जी का स्वदेश भगवान की भक्ता भक्ति करना बहुत कठिन है रघुपति भगत की तरफ कठिनाई और तब तब किसी किसी ने कहा कि तब हम जरूर करेंगे फिर तो बोले हूं भगत पथ कौन प्रयासा जोगन जप तप मत उपवासा सरल स्वभाव मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई मोर दास कहाई न राता करे तो कहो काम विश्वासा ये तो बिल्कुल घर की हो जैसे साग बाजी और जैसे मूली होती है है ना ऐसे ये भगवान की भक्ति कहो भगत तक कौन प्रयास था न जो करना है न जप करना है न तप करना है न जग करना है न उपवास करना है हाँ। इसका अर्थ देखो ये है हाँ, कि जो पौरुषहीन है उनके लिए भी भक्ति है और जो पौरुषवान है पुरुषकार जिनमें है पूरा पुरुषार्थी है तो उनके लिए भी भक्ति है ये किसी के लिए इसका मार्ग बंद नहीं होता है हाँ। मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं है पशु पक्षी के लिए भी भगवान की भक्ति पशु भी करते हैं भगवान की भक्ति पक्षी भी करते हैं क्या भागवत में तो वर्णन आया है कि लता और वृक्ष भी करते हैं दुर्गा भी करती है पृथ्वी भी भक्ति करती है जल भी भक्त होते हैं भक्त सब भागवत में वर्णन और भीलने भी गांव की भीलने भी भगवान की भगत है आपको नारायण ऐसा कौन सा साधन मिलेगा सृष्टि में जो उपजा के घर भगवान को ले जाए आप उपजा की साधना बताओ जा माइन पैगंबरी काम का उल्टा लगाना शरीर में गद्दासी कंसी और अंगराज की सामग्री लेकर कंस की सेवा के लिए जा रही और बीच में महाराज टूट पड़े श्री ये अपनी ओर से किसी के उद्धार के लिए मंगल के लिए कल्याण के लिए अपनी ओर से कूद पड़ने का ये नमूना है उपजा से गया बीता कौन है उसका भी भगवान कल्याण करते हैं क्या प्रयास जहां सारा बल सारा स्वरूप भगवान का है सारा अनुग्रह भगवान का है सारी कृपा भगवान की है वहां जीव के लिए पौरुष क्या है लेकिन महाराज ऐसा मत समझना इस तरह है तो छोड़ो चाहे जब कर रहे हैं गीता में ही देखो इतनी कक्षा पार करने के बाद भक्ति आती है धर्म है इसका बहुत सारी कक्षाएं पार करनी पड़ती हैं भक्ति के लिए बुद्धिया विशुद्ध युक्तो धृत्यात्मानम च पहले बुद्धि शुद्ध होगी राग द्वेष मोह किसी मोहब्बत किसी की मोहब्बत में मुबतला न हो मोहब्बती लोग जो है संसार में किसी न किसी से मोहब्बत करके उसी की याद में डूबे रहते हैं मशगूल रहते हैं है? बुद्धि होनी चाहिए शुद्ध उसमें न किसी से राग हो न द्वेष हो न मोह वृत्यात्मान नियमित अपनी धारण शक्ति के द्वारा अपने आप को नियंत्रित कर लो शब्दादीन विषया त्यक्वा ये जो शब्द पर सारी संसार के विषय हैं इनका त्याग करो राग द्वेश राग द्वेष को निकालते तो विविध सेवी लघ्वासी यथवास्ताय मानस एकांत में रहो विविक विवेक सिद्ध जो पदार्थ है उसका सेवन करो जो नासमझी से या विवेक से जो जीवन में घुस आया है उसका सेवन मत करो सोच विचार के चलो रास्ते में विविध से लघ्वासी हल्का भोजन करो यथवाद काय मानसा जो मन में आया तो बोल गए जैसे मन में आया शरीर को हिला दिया चाहे जहां मन को भेज दिया कैसे भक्ति नहीं होती है सब रोकना पड़ेगा ध्यान योग करो नित्यम ध्यान करो वैराग्यम समुपाश्रित वैराग्य का आश्रय लो अहंकार बलम कर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुक्ष अहंकार आदि को छोड़ो निर्मम शांतो निर्मम बनो शांत बनो और बिल्कुल ब्रह्म जैसे हो जाए ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती हर समय अंतकरण निर्मल रहे प्रसन्न रहे न कोई शोक हो न कोई आकांक्षा हो समस्त कर्मेशु भूतेशु सबके प्रति समता है सब भक्ति लगते पराम अब बड़ा भक्ति की प्राप्ति हो अरे भाई ऐसी भक्ति प्राप्त हो ना सुख डर जाए कि न तो हमसे ऐसा होगा और न तो हमको भक्ति मिलेगी पर जो बहादुर होगा वीर पुरुष होगा तो बोले बस बस ये हमारे प्राप्त करने योग्य है जैसे बाजार में कोई जाता है ना तो चाहता है कि हम सस्ती से सस्ती चीज खरीद लें और कोई कोई ऐसे जाते हैं कि जिसकी कीमत सबसे ज्यादा हो वही खरीदेंगे तो भगवान ने दोनों तरह के ग्राहकों को बुलाया अपने आओ हमारे पास दोनों के लिए सौदा है अभी ते सुदुराचारो बजते माम अनन्यवा स्नान नहीं किया है कोई बात नहीं है और हाँ, भोजन कर लिया है कोई बात नहीं है आचार आचार में दोष है तो कोई बात नहीं है नाम लेना शुरू करो भगवान की भक्ति शुरू करो देखो विद्वत भोग्य भी हो विद्वानों के लिए बड़े बड़े साधकों के लिए ब्रह्म ज्ञानियों के लिए भी उपयोगी हो और जो दीनहीन हैं पिछड़े हुए हैं उनके लिए भी उनके लिए भी उन्नति प्रगति उद्धार करने वाली हो ऐसी कोई वस्तु है मेरे भक्ति दोनों उत्तर दोनों को लेकर चलती है ये भक्ति की विशेषता है इसी का नाम भगवत बाणी है गीता को गीता इसीलिए कहते हैं कि वो सब प्रकार के अधिकारियों के लिए सब प्रकार के अधिकारियों के लिए कारणी है कक्षा अच्छा भाई भक्ति कैसी करें तो तुम जहां हो वहां से भक्ति शुरू होगी ये बात आप ध्यान में रख लो जहां ईश्वर है वहां से साधना प्रारंभ नहीं होती है जहां पहुंचना है वहां से यात्रा प्रारंभ नहीं होती जहां हम हैं वहां से रास्ता शुरू होता है आपको पूरब जाना है तो कहां से शुरू होगा पूरब जहां आप हैं वहीं से पूरा शुरू होगा आपको पश्चिम जाना है तो पश्चिम कहाँ से प्रारंभ होगा तो जहां आप हैं वहीं से पश्चिम प्रारंभ होगा तो यात्रा वहां से प्रारंभ नहीं होती जहां पहुंचना है जहां यात्रा वहां से प्रारंभ होती है जहां हम रहते हैं तो बोले भाई अच्छा क्या यज्ञ करें और कौन सा योगाभ्यास करें और कौन सा स्वाध्याय करें क्या श्रवण मनन निधि ध्यान करें तब ये भक्ति आएगी बोले देखो भाई ये सब चीज अभी तुमसे दूर है न धर्मनिष्ठोस्मी न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनोऽनन्यगतिः शरण्य त्वत्पादमूलम् शरणम् प्रपद्ये धर्मनिष्ठा को देखो तो पूरी तरह नहीं है कितनी बार झूठ बोलते हैं कितनी बार दूसरों के माल की बेईमानी करते हैं कितनी बार हिंसा होती है कितनी बार ब्रह्मचर्य का भंग होता है धर्म धर्मनिष्ठा मूढ़ने पर भी पूरी पूरी धर्मनिष्ठा मिलना मुश्किल है अच्छा आत्मज्ञान है बोले जब वैराग्य ही नहीं है तो ज्ञान कहां से आएगा अच्छा भगवान के चरणारविंद में भक्ति है कि नहीं बाबा नाना आसक्तियां मन में भरी हैं और पुत्र की मित्र की धन की बहुत आसक्तियां हैं तब तुम भगवान के मार्ग में कैसे चलोगे बोलो तो देखो एक विशेषता है अपने एक तो हमारे पास हमारा कुछ है नहीं ये शरणागति का है स्वरूप समदमादि साधन संपत्ति हो तब ज्ञान के मार्ग में चलना होता है संप्रदाय बोलते हैं साधन चतुष्टय जो है ना वो साधन संपदा है उपनिषद में आया श्रद्धा वित्तो भूतवा आत्मनिव आत्मान सत्य श्रद्धा का धन चाहिए हो श्रद्धा धने न मुनिना मधुसूदने न सुरक्षा का धन चाहिए चलने के लिए यहाँ बोले बाबा देखो हम तो दोनों हाथ उठा देते हैं हमारे पास कुछ नहीं कोई पोटली वोटली है क्या नहीं नहीं कोई तिजोरी है कोई बैंक बैलेंस है क्या नहीं कुछ नहीं अकिन करो हमारे पास कुछ नहीं कथा अच्छा, तब तो कोई होगा तुम्हारे कोई साथ मुहिम होगा वो पीछे से रुपया लेके चलता होगा तो बोले नहीं कोई सेठ साहूकार होगा वो तुम्हारी मदद करता होगा बोले अनन्य गति और कोई गति दूसरी है नहीं तो तब जिसके दूसरे की गति नहीं है और अपनी कोई वस्तु नहीं है कुछ नहीं ये शरणागति में दो अधिकार माने असिंचनत्व और अनन्य गति का बोले भगवान बहुत आश्रय संकर्जा पावन जो भगवान की ओर चलना चाहे उसके लिए नाव लेकर खड़े रहते हो ऐसा हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरा हमारे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है किसी का भरोसा नहीं अपने तैर सकते हो कहने नहीं तैरना नहीं आता कोई तैयार तो तुमको पार कर दे गाय वाय की पूछ पकड़ो वो बेतरणी पार करा देगी हाँ महाराज बेतरणी तो पार करा देगी पर ये संसार सागर है ना मृत्यु संसार सागर वो व्यक्ति का पैसा महान समझता था आओ हमारे बोध में आओ तो आश्रय सौकर्या पादन और आश्रित कार्य निर्वाह अपने आश्रित के काम को बना देना बोले हमारे पास तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो तुमको जो तुम्हारे पास है हम वही बताते हैं जो भक्ति की बात है भगवान जिसको जन्म देते हैं उसको अपनी प्राप्ति के लिए साधन देकर जन्म लेते हैं जब भी वहां से चलता है ना भगवान के पास से हाथ जोड़ के खड़ा होता है महाराज हम संसार में जाएंगे तो आप तो भूल जाएंगे तो भगवान ने कहा कि देखो एक चुटकी तो हम चूरन डालते हैं तुम्हारे अंतकरण में कि जहां तुम जाओगे रहोगे जब तक हमारे पास लौट के नहीं आओगे तब तक दुख तुम्हारा पीछा करेगा एक सूरम तो ये डाल दिए जब आना चाहोगे तब तो तब जब आना चाहोगे तब हमारे पास पहुंचने के लिए जो उपकरण चाहिए वो हम तुमको दे देते हैं करेंगे हमारे पास तो कोई उपकरण नहीं है हमारे पांव से चलते भगवान के पास कैसे करेंगे हाथ से काम कैसे करेंगे बोले जीव है और हाँ, तो जीव जीव का साधन भी है बाधिता सतंग कीर्तयंतो माम यतंत बृहद्रता नमस्यंत माम भक्तिया नित्य युक्ता उपास संकीर्तन करो जीव तो है ना हाँ, जीव में दो इंद्रिय है हाथ में केवल करने की शक्ति है पांव में चलने की शक्ति है आंख में देखने की शक्ति है लेकिन जीव में बोलने की और स्वाद लेने की दोनों शक्ति है ये और सब इंद्रियों से विलक्षण है वो एक में दो इंद्रिय सततम कीर्तन तो कीर्तन करो कीर्तन शब्द ने मधुर वाणी में मधुर वाणी में मेरा कीर्तन करो संकीर्तनम तो वो देखो कितनी आसान भक्ति कितनी आसान है जीव से भगवान के नाम का गुण का संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम भगवान के नाम का संकीर्तन लीला का संकीर्तन गुण का संकीर्तन कीर्तन करो तो नमस्यंत तमाम भक्त हमारा जीव भी नहीं है गूंगे हैं क्या करें बोले बार भारत सिर को झुकाओ नमस्यंत तमाम भक्त बड़ी आसान है भक्ति तो सिर झुकाने से हो जाती है मुंह से बोलने से हो जाती है नमक यंत्र को हाथ जोड़ने से हो जाती है ये तो बड़ी आसान है यहाँ से भक्ति शुरू होती जहाँ हम हैं वहाँ से साधन प्रारंभ होता है जो बल हमारे जो साधन हमारे पास नहीं है वो साधन हमारे करने का नहीं हमारे पास जीव है जीव से साधन करेंगे हम पांव से यात्रा करेंगे हम हाथ से कर्म करेंगे हम हाथ से देखेंगे कान से सुनेंगे और भगवान सब रास्ते से आएंगे वो ये भक्ति की विशेषता है भक्ति माने व्यक्ति के अंदर भगवान को अभिव्यक्ति देने की शक्ति भक्ति माने हमारे जीवन में हमारे शरीर के अंदर भगवान को जाहिर करने की जो शक्ति है उसका नाम है भक्ति भगवत अभिव्यंजिका शक्ति भक्ति हमारे हृदय में आई और भक्ति अकेली नहीं आती हो भजनीय को लेकर आती है ये भक्ति की महिमा है तो जब भक्ति देवी आती है तो देखो साफ है यस्यास्ति भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैः तत्र समापते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथे नासति भावतो बही जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती ईश्वर पर आस्था एक अचिंत्य अनंत एक दिव्य शक्ति एक अदृश्य शक्ति के प्रति आस्था होना उसका ज्ञान होना उसका स्मरण होना हाँ, उससे प्रय होना भक्ति आई सब देवता श्रेष्ठ गुणों को लेकर उसके पास आ जाते हैं भेंट करने आते हैं भेंट देने आते हैं देखो सर्वे गुण सत्र समासते सुरा का ये भी अर्थ है कि कान फिर अच्छी अच्छी बातें सुनने लगता है बुरी बातें नहीं सुनता आंख अच्छी अच्छी बातें देखने लगती है नासिका अच्छे गंध को सुनती है जीव अच्छी वाणी बोलती है पांव अच्छी जगह जाता है हाथ अच्छा काम करता है ये देवता जो हमारे शरीर में देवता है इंद्रिय रूप देवता ये अपने सदगुण धारण करके प्रकट हो जाते हैं हमारा जीवन सदगुण संपन्न हो जाता है राव भक्त कुतो महदगुणा मनोरथे राव प्रतिभावतो वही जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है उनके जीवन में महान गुण कहां से आएंगे वो तो पारसी बंदी कर लेंगे ना भगवान में पार्टी बंदी नहीं है वहां दल का दल का दलदल नहीं है भगवान तो सबके आत्मा है सर्वात्मा है भागवत में एक भक्ति का ऐसा वर्णन है गीता में भी है अहम सर्वेशु भूतेशु भूतात्मावस्थ तत्पदा भगवान क्या है सबके शरीर में उस उस शरीर में आत्मा बन करके हाँ, उस उस व्यक्ति की आत्मा बन करके बैठे हुए अहमुच्चावतर्द्रव्य क्रियोत्पन्न नवे हजार मन का भोग लगाने से भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं कैसे संतुष्ट होते हैं किसी से द्वेष मत करो किसी का अंतर मत करो ये मत कहो कि जो हमारे मजहब में हमारी जाति में हमारी पार्टी में हमारे दल दल में जो फंस गया है वो दूध का धुला है और दूसरी की पार्टी में सब बुरे हैं दूसरे संप्रदाय में दूसरी जाति में दूसरे मजहब में दूसरी पार्टी में सब बुरे हैं और जो हमारे साथ हैं वो सब अच्छे हैं ये बात भक्ति में नहीं होती है भगवान सबके हृदय में है भगवान सर्वभूत सब में भगवान है हो ये भगवान का रूप है इसलिए अभय दान मानाभ्याम मैत्रिया अभिन्न चक्षुषा सबके प्रति मित्रता का भाव चाहिए सबको कुछ दो जो बने तो दो नहीं तो सम्मान करो मैत्री का भाव रखो जैसे हमारी आत्मा है वैसे इसकी आत्मा है ये ख्याल करो आप देखेंगे बहुत कम ये बात मिलेगी आपको दूसरी जगह पढ़ने के लिए अमृतन से युव मृत्युश्च अपूर्व है वो स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य ये बात है अमृतन से युव मृत्युश्च सब पच्चाहम अर्जुना अर्जुन अमृत में और मृत्यु में है अमृत में भी भगवान मृत्यु में भी भगवान मृत्यु से तो नव नवायमान अमृत की उपलब्धि होती है परंतु उसके बाद जो है आपको जल्दी नहीं मिलेगा कहेंगे सब सच्चा अर्जुन सत भी मैं ही और असत भी मैं सत्य भी भगवान असत्य तुम अपने हृदय को अपने हृदय को भगवान से भर लो सदसत तत्परंजा सत भी वही असत भी वही उनसे परे भी वही और न सत तन्नाश विद्यते तो उसको न सत कह सकते न असत कह सकते ऐसा भगवान आपको कहाँ मिलेगा जिसको आप सत्य में और असत में दोनों में देख सकते हैं ऐसा भगवान सर्व सर्वगत सर्व उड़ाने सब है सब में है सबके हृदय में रहता है ऐसे भगवान की भक्ति तो जब भक्ति आती है ना हृदय में तो भक्ति आने से चार दोष तुरंत निवृत्त हो जाते हैं सर्वभूतेश मदभाव पुंसो भाव तो चिरा स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा अभियंती जहां भगवत दर्शन होने लगा तो किसी से होड़ नहीं लगेगी तो ये हमसे आगे कैसे बढ़ेगा स्पर्धा क्रोध और असूया जो दूसरे के गुण में दोष ही देखना है ये दोष है अपराध है असूया पर गुणेशु दोषाविष्करण और तिरस्कार अर्थात नीचे शंकराचार्य ने एक कंगाल को कह दिया था दूरंग और उसके भीतर से शंकर जी बोल पड़े गच्छ दूरमिति देहमुता हो देहिनम परिधि विश्वास दूर हटो किसके लिए बोल रहे हो देह को दूर हटाना चाहते हो कि देही को दूर हटाना चाहते हो तो देह तो हमारा और तुम्हारा अन्नमय कोष है दोनों का एक ही है मिट्टी पानी हाथ से बना हुआ और देही में तो भेद ही नहीं है आत्मा किसको हटाना चाहते हो और जब शंकर जी ने ऐसे कहा और ये नारायण शंकराचार्य ने हाथ खोल के देखा बोले पहचान गया हमारा पहचान गया आप ही हैं तो भक्ति वो चीज है जो स्पर्धा को असलिया को तिरस्कार को और अहंकार को अपने बड़प्पन का जो अभिमान है मिटा देते हैं अब आप ज्ञान किसको ज्ञान कहते हैं ज्ञान किसका नाम है भक्ति सुजा अपराकाष्ठा और ज्ञानम प्रकीर्तितम भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसका नाम ज्ञान है और ज्ञान त्यजा पराकाष्ठा शैव भक्ति प्रकीर्तिता ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उसका नाम उसका नाम भक्ति है असल में लक्ष्य एक है प्रीति विशिष्ट वृत्ति के द्वारा उसका अनुसंधान करो चाहे प्रमाण विशिष्ट वृत्ति के द्वारा उसका अनुसंधान करो ज्ञान होता है प्रमाण वृत्ति विशिष्ट प्रमा जो होती है यथार्थ अनुभव जो होता है वो प्रमाण द्वारा प्रमाण की प्रधानता से होता है और अपने भजनीय की जो प्राप्ति होती है वो प्रीति विशिष्ट वृत्ति के द्वारा प्रेम से लबालब भरी हुई वृत्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है और गीता में गीता में इसका अनुसंधान करेंगे तो गीता छोटे के लिए भी है बड़े के लिए भी है समोगुणी के लिए भी है महाराज एक ऐसा प्रश्न है शास्त्री लोगों को हेर फेर करना पड़ता है ना उस श्लोक की व्याख्या करने के लिए बड़े बड़े विद्वानों को थोड़ा थोड़ा देर से करना पड़ा क्योंकि सब जितने मजहब हैं वो कहते हैं कि जो हमारे शास्त्र को नहीं मानेगा आपको सुने होगा बाइबिल को न माने तो ईसाई कैसा उसके लिए कोई मार्ग नहीं कुरान को न माने तो मुस्लिम कैसा जो कुरान को नहीं माने उसके लिए खुदा का रास्ता बंद है वो वो तो काफिर है और वो तो में जाएगा और वैदिक लोग कहते हैं कि जो वेद को नहीं मानता उसकी क्या पूछना हो तो सर्वधर्म बहिष्कृत है गीता में इस बात पर एक दृष्टि डाली है और टीकाकारों को उसमें बुद्धि लगानी चाहिए आपके ध्यान में होगा जरूर आप गीता पढ़ते होंगे और न पढ़ते हो तो पढ़ें जरूर है ना है ना न पढ़ें तो आप एक नियम ले लें दो श्लोक रोज पढ़ेंगे और एक वर्ष में गीता पूरी हो जाएगी दो श्लोक रोज पढ़ लें एक वर्ष में गीता पूरी नहीं पढ़ते हैं तो पढ़िए लेकिन ये प्रश्न देखिए ये ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजंते श्रद्धयान्विता तेषा निष्ठा का कृष्ण तत्वमाहो रजतम अद्भुत है दुनिया के किसी मजहब में दुनिया के किसी पंथ में इस प्रश्न का जैसा उत्तर गीता में है वो नहीं मिलेगा अर्जुन का प्रश्न है कि जो शास्त्र विधि का परित्याग कर देते हैं त्रिज्य का अर्थ है अब मैं क्या सुनाऊ आचार्यों के विरुद्ध पड़ता है उत्तृज्य का अर्थ होता है फेंक देना हो बूझ सकते हैं जेशास्त्र विधि मुत्सृज्य यजनते श्रद्धयान्विता लेकिन हृदय में श्रद्धा है ऊपर से शास्त्र को छोड़ दिया लेकिन हृदय में श्रद्धा है महाराज कोई किताबी मजा किताब छोड़ने को बड़ा अपराध मानेगा और श्रद्धा को बड़ा सदगुण नहीं मानेगा गीता का कहना है किताब छोड़ दिया तो छोड़ दिया हृदय में तो श्रद्धा है ना यह घंटे श्रद्धयान्यता हम उस दिल को देखते हैं उस हृदय को देखते हैं जिस हृदय में श्रद्धा का निवास है शेषाम निष्ठा सुधा कृष्ण प्रश्न हुआ कि उनकी अंतिम गति क्या होगी जैसी दूसरे मजाब की किताबों को न मानने पर जो गति बताई गई है वही होती वही होगी बोले नहीं है ना त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेती माम स्वाभाविक श्रद्धा भी सात्विक होती है और ऊर्धम गठन से तत्वस्था उनकी ऊर्धगति होती है क्योंकि उनके हृदय में श्रद्धा है भगवान किताब नहीं देखते भगवान लाल कपड़ा नहीं देखते पीला कपड़ा नहीं देखते भगवान चंदन मारा मारा नहीं देखते भगवान देखते हैं हृदय कोई भी सरदय पुरुष होगा वो हृदय देखेगा भगवान हृदयों के शिरोमणि हैं और कहते हैं कि स्वाभाविक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा जिस, जिसके हृदय में होगी वो शास्त्र विधि को छोड़ भी दे लेकिन यदि श्रद्धालु बना रहे तो उसकी श्रद्धा उसको ऊपर उठा करके ले जाएगी ये श्रद्धा भक्ति की माँ है वो ये भक्ति की श्रद्धा से भक्ति प्रारंभ होती है आदव श्रद्धा तत्संग तपोपभजन क्रिया पहले श्रद्धा होती है तब सत्संग होता है जब सत्संग होता है तब भजन होता है जब भक्ति का जो आदि है भक्ति की जो दादी है भक्ति की जो नानी है हाँ। वो तुम्हारे हृदय में है तो कभी कभी कभी न कभी श्रद्धा की पौत्री भी आएगी और श्रद्धा की दौहित्री भी आएगी हाँ। ये तो भक्ति की श्रद्धा जो है ये भक्ति की हाँ, भक्ति की दादी है ये भक्ति की नानी है श्रद्धा का इतना आदर महाराज श्रद्धा सुकौन्य ये एक बात देखो आप कहीं किसी मजहब में क्या ये प्रश्न उठाया है कि हमारी हमारी किताब को नहीं मानेगा तो उसकी क्या गति होगी तो उठाया है और उठा के बता दिया उसकी दुर्गति होगी और गीता कहते हैं नहीं यदि उसकी श्रद्धा सचमुच श्रद्धा है सात्विकी है तो उर्भंग संत था उनकी उन्नति होगी तो ऐसे हाँ हाँ शास्त्रहीन व्यक्ति के लिए भी कल्याण का मार्ग बताने वाली ये भगवत गीता है और ये भक्ति अक्षर ज्ञान है कल्पते अत्याम अभिजानाती यावान जस्यात्म तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञावा ततो माम तत्वतो ज्ञावा विशते तदनंतरम भक्ति से भगवान को अभी अभी जाना थी तो जाना थी आभिमुख्य न थी बहुत देखे हुए हैं भगवान हजारों बार लाखों बार करोड़ों बार सबके हृदय में बैठे हुए सबके रूप में प्रकट परंतु अभिज्ञान का लोप हो गया है मुहर हो गई है तब भक्ति करो भगवान में जो भक्ति होगी तो अभिज्ञान ज्ञान तो अपने आप ही आएगा जब तुम श्रद्धा पूर्वक रुचि पूर्वक प्रीति पूर्वक भगवान का अनुस्मरण करोगे तो क्या भगवान तुम्हारे हृदय में नहीं प्रकट होंगे अब कल ज्ञान की बात सुना और गीता की एक विशेषता पर ध्यान दीजिए धर्मात्मा लोगों ने धर्म को यज्ञशाला में ले जाकर रख दिया भक्त लोगों ने भक्तों को मंदिर में ले जाकर भक्ति को मंदिर में ले जाकर रख दिया जोगियों ने योग को गुफा में पहुंचा दी और ज्ञानियों ने ज्ञान को झोंपड़ी में ले जाकर रख दिया गीता की विशेषता ये है कि वो धर्म को हमारे घर में हमारी दुकान में हमारे सड़क पर हमारे रोज बदले के काम काज में धर्म को रहे रखते भक्ति को गीता ने मंदिर में नहीं छोड़ा मंदिर में भी होती है पर युद्ध भूमि में लाके रखते मां मनुस्मर युद्ध मेरा अनुस्मरण करते रहो और युद्ध करते रहो योग को समत्वन योग उच्यते सिद्ध सिद्धियों हो समो भूतवा समत्वन योग है योग कर्मसु कौशलम योग को लाकर कर्म क्षेत्र में रखा तस्मात योगाय विद्यस्व योग कर्म से कौशल कर्म करने की वो कुशलता जिसमें सफलता और निष्फलता पर विफलता पर ध्यान न देके अपने कर्तव्य का पालन करते जा रहे हैं ज्ञान को तो लाकर ऐसी जगह पर रखा महाराज यदि युद्ध कर्तव्य हो तो युद्ध करो और युद्ध में मारना पड़े तो मार भी डालो हमारा ज्ञान ऐसा है जो हिंसा हिंसा दोनों से ऊपर है अहिंसा में तो रहता ही है इसमें क्या पूछना है और अहिंसा और शांति तो परम धर्म है लेकिन यदि कभी काम पड़ जाए तो जैसे शंकर जी त्रिलोकी का लोकत्रय का संहार कर देते हैं वैसे यदि संहार भी करना पड़ जाए पड़ जाए तो ज्ञान की कोई हानि नहीं है यस्य नाहम कृतो भाव बुद्धि यश न थे अथवा अतिशय मान लोकाम न हंते न निवर्तते स्वजमान लोकान हत्वा किम पुनः अहत्वा ये नहीं कहते हैं कि तीनों लोग को तो मार डालो ये कहते हैं कि न मारे किसी की हिंसा न हो तब तो कहना ही क्या परंतु यदि कदाचित शंकर जी के तीसरे नेत्र के समान संहार शक्ति का भी प्रयोग करना पड़े तो लोकत्रय का संभार करके भी और न हंती न निबद्ध से न मारने वाला है न मरने वाला है तो ज्ञान को ले आए युद्ध भूमि में भक्ति को ले आए युद्ध भूमि में धर्म को ले आए युद्ध भूमि में योग को ले आए युद्ध भूमि में युद्ध भूमि माने ये कर्म क्षेत्र जहां हम लोग रहते हैं तो जो साधन जो भावनाएं हमारे जीवन से दूर पड़ गई थी उनको हमारे जीवन में लाकर बैठा देना ये गीता की विशेषता है समाधि में हमको देखो ये गीता का उपदेश नहीं है जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच अनुपस्थिति ये गीता का उपदेश है और अंत में कह दिया सर्वथा वर्तमानों की सयोगी मई वर्तते ये योगी समाधिस्थ नहीं है गुहा में स्थित नहीं है अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन कर रहा है और वो जोगी मुझ में ही सब काम कर रहा है तो ये गीता की अपूर्वता हो मान जो बात स्पष्टम स्पष्टम और कहीं नहीं कही गई वो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में हथियार गिरने वाले हैं घोड़ों की बात दो हाथ में पकड़े हुए हैं और रोते हुए अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं तो गीता धर्म को यज्ञशाला से बाहर लाती है भक्ति को मंदिर से बाहर लाती है योग को गुहा से बाहर लाती है ज्ञान को झोपड़ी में से बाहर ले आती है हमारे जीवन का संपूर्ण निर्माण करने के लिए ये भगवती गीता का आविर्भाव हुआ है ओम बत्वाम अनुसंधान गीते भगवत देश ओ मेरी माँ अंब वर्णमयी शब्दमयी वाक्यमयी गीता मां अम्बा माने वर्णमयी मां होता है और मैं तुम्हारा अनुसंधान करता हूँ तुम्हारा ध्यान करता हूँ चिंतन करता हूं संक्षेप में एक बात और सुनाता हूँ गीता का ऐसा ज्ञान नहीं है कि जीवन में दुख आवे नहीं या दुख का भान ही न हो ये गीता कोई नशा नहीं है इसको पी लो तो दुख मालूम न पड़े गीता का कहना है कि दुख जीवन में आते हैं एक बार दो बार तीन बार दस बार दुख तो आते ही रहते